पवित्र श्रीमद् भागवत गीता पवित्र चारों वेद पवित्र कुरान शरीफ पवित्र बाइबल पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन महाराज जी फिर अगर हम आपकी साधना करें तो क्या होगा कि आपने पिछले कर्म नहीं भोगने होंगे क्योंकि महाराज कहते हैं जब ही नाम हृदय धरो भयो पाप को नाश और जैसे चनगारी आग की वही पड़े पुराने घास अभी प्रमाण दिया था कि गेहूं आमा रंगा हो जा फसल में गोभी की में घास जाम जा खरपतवार उग जाता है तो उसमें एक दवाई डाल दी जाती है वह फसल नष्ट नहीं करती उस उसको नष्ट कर देती है खरपतवार को इसी प्रकार सतगुरु कबीर साहब का एक नाम है जिसको सार नाम कहते हैं वो हमारे पाप कर्मों को भसम करके हमने अपने इष्ट सतपुरुष से मिला देता है अब गुरु की आवश्यकता क्यों पड़ती है ये ध्यान से सुनने की बात हर एक पहलू पर प्रतिदिन विशेष ढंग से ध्यान से सुनोगे तो पूर्ण ज्ञान होगा गुरु की आवश्यकता क्यों पड़ती है अब कबीर साहब का एक दोहा है कबीर गुरु मानस कर जानते वो नर कहिए अंधे महादुखी संसार में आगे यम के फंद कबीर गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपना जिन गोविंद दियो मिलाए फिर दूसरा है कबीर गुरु बड़े गोविंद से मन में देख बेचारे अर्श मरे वो रह गए गुरु सुभजे हुए पार अब ये विचार करना फिर कहते हैं कबीर हरि के रूसे का गुरु की शरण में जाए कबीर गुरु जय रूस गया तो हर नहीं होत सहाय इन तीन दोहों को बिल्कुल साधारण भाषा में आपको समझाएंगे कबीर साहब के अनुसार गरीबदास सिंह अनुसार प्रथम दोहा तो के गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पा भाई बलिहारी गुरु अपना जिन्हें गोविंद दिया अब यहाँ हम एक साधारण अर्थ ले रहे एक नलका है हैंडपंप हैंडपंप तो है गुरु और पानी ले लो परमात्मा नल के बिना पानी प्राप्त नहीं हो सकता यह प्रमाणिक बात है वैसे परमात्मा सर्वव्यापक है गुरु बिना नहीं मिल सकता इसी प्रकार जैसे पानी पृथ्वी में सारी जगह है पर नल के बिना नहीं मिला है अब गुरु में भी भेद सर नलके में और पानी में भी भेद सर खारे पानी में ला दिया तो खारा नलका देगा अरे गुरु ऐसा मिल गया जो लागे खारे में रहा है यानी उसकी उपास्य उपास्य ईश की उसका कोई भूत का ढनका से तो वो तो वही लाभ दे सका अपना वो गुरु तो हमने गुरु छाटना फिर नलका छाटना और नलके बिना पानी नहीं लकड़ा तो गुरु नलके का काम करे अब दोनों खड़ पानी भी दरह मटके में और नलका भी है पानी थोड़ा सा पड़ा है तो हम नलके को प्रधानता देंगे ताजा काट के पी लें अब पानी जो है नड़के बिना नहीं निकल सकता गुरु से यानी नल पानी से पहले नड़का आदरणीय और पूजनीय है जब देखो सुख तो देना भगवान ने पर गुरु बिना नहीं मिले प्यास बुझानी जल ने पर नड़के बिना नहीं मिले अब पहले नलके के पांव पकड़ने पड़ेंगे और लाना लाए पाछे फिर उसका तलाश करनी भाई नलका लाना चाहिए था लाए पाछे उसके पां यानी उसकी पूजा करनी पड़ेगी जब पानी बार आवे अब कहते हैं कबीर हरि के रूष्टा गुरु की शरण में जा और कबीर गुरु जय रूस जाता हर नहीं हो अब जैसे मटके में पानी सगर में वो खत्म हो गया यानी राम रूस गया आपका फिर लड़के पर दबर लिया जाओ अर्जन लड़का बिगड़ गया तो पानी नहीं मिलेगा ये सतगुरु प्रमाण इतने ढंग से देते हैं अगर कोई समझे नो को गुरु की के जरूरत से हम तो जप लेंगे घर भगवान जप लो भाई अब प्रमाण दिया फिर गुरु बिना काम नहीं चल रहा है अब कहा के ये दोनों हो गए ना सिद्ध गुरु गोविंद दोनों खड़े किस कहला का बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दिया और फिर कहेंगे गुरु जिसने हर बजे वो रह गए और गुरु भजे भाई पार कबीर गुरु बड़े गोविंद तब उन्होंने देख विचार अब जी ने जल जल जल करते हांडे तो जल नहीं मिला और जिसने ने कहा नलका साढ़े कित है तो नलका बजा नलका याद किया तो पानी भी पा गया इसी प्रकार जो जिन्होंने गुरु की तलाश की ईश्वर मिला गुरु की तलाश नहीं की वो राम भगवान राम भगवान सतगुरु परमात्मा ऐसे ईश्वर प्राप्ति नहीं होती अब जैसे थर्मल प्लांट से बिजली आवे इसमें कोई शक नहीं कि हम बिजली के गुण गिना सकते हैं कि बिजली पंखा चला दे कूलर चला दे दूध बिलो दे सानी काट दे फैक्ट्री चला दे रेल चला दे सारे काम कर दे ये तो स्तुति करी हमें और फिर हम इसकी स्तुति करें तो बिजली बड़ी बलवान है तो कूलर चलाती है तो पंखा चलाती है तो दूध बिलोती है ये स्तुति कर रहे हैं हम उसकी पर नो बिजली ना मिले तो रोज करो और रोज गुण गाओ जब तक हम नो नहीं पूछ लेंगे यार मैं लैक कर से भाई फिर बताओगा भाई उड़ा बिजली आना का जा और ले मैं दस्तक कर दू मेरे द्वारा मीटर से और ये पैसे जमा कर दिए इतना खर्चा हो से और यू फार्म भरना और कनेक्शन जुड़ जाएगा फिर उसने स्तुति करो चाहे मत करो और उसने कनेक्शन मिले पाछे फिर वह बिजली वो काम जरूर करेगी जिसके गुण सुने थे अब हम परमात्मा के गुण सुने पता नहीं के के महिमा गाजन से घर बैठकर स्तुति भी करते हैं परंतु उसकी उपलब्धि जब होगी जब हम पूरे गुरु ते कनेक्शन ले लेंगे अब नकली गुरुआ तय नाम लिए पाछे भी कोई सुविधा आपको नहीं मिल रही होगी इसमें कोई शक नहीं है और जब पूरे गुरु ते यानी जिसका ऊपर संपर्क है पूर्ण रूप से उससे नाम लिए पाथ्य जो आपके घर में वह सुविधा जरूर होगी जो भगवान कराया करें अब हम आपको और प्रत्यक्ष प्रमाण बताते हैं गणित दूर लाहौर पेशार की झूठ नहीं पाओगी झूठ तो सह नहीं पर सोचनीय जरूर एक महसूस करेंगे या झूठ से क्योंकि परमात्मा की गुणों की इतनी वर्णन से कि निन्यानवे प्रतिशत तो हमने झूठ लगेंगी क्यों लगेंगी कि हमारी बुद्धि वहां तक पहुंच नहीं पाती नकलोई गांव में बिदलहण गांव में भगत संतराम है हमारा उपदेशी आज नहीं आया शायद पुलिस में सिपाही है उसने नाम लिया वहां पाठ करने के लिए हम गए तो वहां कई ऐसे प्रवचन ज्ञान सुनकर आत्मा सबकी भगवान ने चावे बुढ़िया ने जो कली राम की औरत से उसने नाम ले लिया उनके घर के कति साथ में तो जो नाम ले लिया कुछ दिन के बाद साल भर के बाद उनकी लड़की के गुर्दे खराब हो गए जो ब्याह रखी थी एक लड़का उसका हो रहा था लड़की के और वह मरण सैया पर थी कई अस्पतालों में चेक करवाई सबने एक रिपोर्ट दी आखिर में गंगाराम हॉस्पिटल में भी ले गए उन्होंने दवाई लिख दी कि 20 दिन से ज्यादा इसकी उम्र नहीं है और गुर्दे चेंज करवाओगे तो दोनों दो गुर्दे एक देना पड़ेगा आप में से किसी ने और तीन तीन लाख रुपये कम से कम खर्च और जीन की कोई गारंटी नहीं अब इतने राफड़ में भाई कौन बड़ा ब्रोत भी नहीं बेचारा का इतना घरान ले आए लड़की तो नहीं बता उधर से उसके भाई उस कलीराम के लड़के की शादी थी दो लड़की हैं उन दोनों तो छोटा वो वो छारा ब्याह उनने सोची वो करने चाहो थे दो तीन महीना पाँच छह शादी उनके मन में विचार आया फिर यह लड़की मर जाएगी साल पर बाद जाएगी क्यों ना पहले कर ले उन्हें फटाफट बीस पंद्रह दिन के अंदर अंदर शादी लड़के की तय कर दी दस एक दिन के भीतर भीतर तो क्या हुआ तो संतराम ने बोला जी एक महाराज की बाणी भी तो करवा लो जब इतना आप खर्च कर रहे हो एक बाणी भी करवा लो महाराज का पाठ भी हो जाए वह बोले जी ठीक है हम पाठ करने के लिए चले जाते जब हम पाठ करने गए तो वह जब शाम ने हमने सजा दिया सुबह वह औरत रोन लगी कलीराम की पत्नी मैं बोला के बात भी बात बता देखे आज के आपके घर में भगवान आगे और परमात्मा की बाणी होगी आज क्या का दुख है इतना वो लड़की खटोले में लौट रही खाट तो छोटा हो से खटोला क्या कर अपने हरियाणा में और वह पड़ी नहीं दिखे आंख सूझ रही सारा मुंह सूझ रहा उसका वो बोला इसका क्या हो गया एक अंत में ले जाकर मैंने न्यू बोले जी इसका नूर न्यू बीमारी से मैं बोला बेबे डॉक्टर ने दिखाओ ये तो बहुत गलत बीमारी है जल्दी चेक कराओ उन्होंने बोले जी सारा करवा लाए अरिया इतनी पुड़िया बांध गोड़ी दे रखी है अरिया रिपोर्ट रही सारी इसके मतलब गुर्दे फेल हो चुके हैं वहां पे फिर मैं के बताऊं अगजी जी देख लो फिर हमने तो आगे पाछे नीम तला अपने बंदी छोड़े भाई गरीबदास जी कबीर साहब माँ वेद इस पर विश्वास कर पूरा अर्जो का आकर कर्म से दुख हो कर्म कटे नाम ते ये छोरी नाम दवा और ये तीन दिन पाठ होगा इसमें सेवा करवाई सेवा का बहुत गजब लाभ अगर आप जाओ ना पंजाब में और वहां देखो जहां बंदी छोड़गी वाणी का पाठ हो सो ओडो ओडो बुढ़िया पंजाब की बूढ़े ने जिनकी ढाडी लटकती आवे हाथ जोड़ के नो कहेंगे ओ पोते साडा तो आज नंबर आया से मैनू बर्तन साफ कर दे वो बैठ कर बर्तन साफ हाथ जोड़ कर लेंगे और सेवा करके जाते हैं तो बोले जी ठीक है हमने पाठ प्रकाश किया मैं इस लड़की ने ऊपर लाओ तुम्हारे ही था ने बोले जी उठ भी नहीं सकती मैं लिया तो दो तीन जने पकड़ के वहां ले मत्था टिकाओ लंबी लुटाई मत्था टिकवाया आड़े बिठा दी उड़े लुटा दिए यानी हमने गुरुदेव का अंग पढ़ा प्रसाद खुआया मैं इसको प्रसाद दो अलवा देसी घी का वह बोले जी मना कर रखा डॉक्टरों ने कि तड़ी हुई चीज जब घी खाते तोड़ी मरेगी वो बोला खुआत है जब मर तर रही है शरीर इसमें कसर के रहे मान रही से तू इतना खाया उसने कति खा के नहीं चले गए वह तैर के उस दिन तक कम हलचल हुई अगले दिन सहज सहज बेच की और बर्तन साफ करने लागे हम तो आगे तीसरे दिन भोग ला के हमने दस दिन के बाद पंद्रह दिन के बाद संतराम ने रिपोर्ट दी कि वह छोरी कति ठीक होगी बोल सतगुरुदेव की जय और उसको कहा था मैं किस वाणी का पाठ पुराना गरीबदास जी की मैं बोले जी कति करवा दूंगी पर वो नहीं मान दे मैं करवा दूंगी मैं तू तो करवा दी यहां पर ये सतगुरु का धर्म है इसमें पांच यज्ञ होती है गरीबदास जी की वाणी में आज वह लड़की जीवस है कलीराम बिदढ़ाण गांव और उस छोरी के एक और छोरा हो रहा सही और टमाटर कैसा रंग उस लड़की का हम दो महीना पाछा फिर एक पाठ करने गए थे तो वह लड़की आई ऊपर नमस्कार सच्चा साहब करण खातिर नो बोला संतराम या तना देखी कौन सा लड़की कौन किसका है या नो बोला जी या कलीराम की छोरी नहीं है जिसकी बीमार थी या से वाह कहा से फिर हम घूमन गए जब टोकनी पानी के लिए आवे ये तो लंदन नहीं भाई यो यो रहा बदला और तसली कराओ तो बात यह है कि हम भगवान को परमात्मा को एक आम रूप में क्योंकि ये अब कनेक्शन की बात है सही कनेक्शन पूरे गुरु तो नाम मिले पाछे भगवान ये काम जरूर कराया करे ना तो फिर परमात्मा की कोई कोई जरूरत नहीं फिर धक्के आपने चक्कर काटने की जब उसमें ये गुण नहीं है ऐसे ऐसे आपको और बीस उदाहरण बता सकता हूं मैं गरीबदास महाराज की कृपा से कबीर साहब की रजा से जो आज भी स्वस्थ देह से और बाकी कई काम जैसे जो ना कति कितने भी ना होते वह हुए अब प्रमाणित बात यह है कि हम इनको नकारा करते रहते हैं विश्वास नहीं जमता क्यों नहीं जमता कि हम कनेक्शन नहीं ले रहे ढंग से हम सारे काम करते हैं स्तुति भी करते हैं सारी बात करते हैं पर वो लाभ नहीं मिलता आज हजार कम से कम हजार परिवार यहां भी जितने हमारे आए हैं ये भी आपने मुंह तो बता देंगे क्या शराब पे छह महीना तो बंद हुई इससे पहले ढाई साल से हमारे ये प्रवचन प्रचार चला हुआ है एक हजार परिवार बीड़ी शराब मांस तमाकू कति त्याग चुके हैं और ये छोटे छोटे बच्चे ये देखो ये बालक सत्संग में बैठने के थे ये बंदी छोड़ की कृपा और रजा का प्रमाण है कि आज ये सत्संग में आकर बंदी छोड़ की वाणी का पाठ करने लाग रहे अब धन इनके माता पिता जिन्होंने अपने बच्चों को आप लाइन पाए और फिर इन बच्चों को लाइन पर लगाया तो ये सुबह शाम हवन करते हैं हमने प्रधानता जैसे हम पहले आर्य समाज की भी बहुत कुछ साधनाएं की उसमें केवल हवन को हवन यज्ञ को प्रधानता है हम हवन भी करते हैं अड़तालीस घंटे अखंड हवन चलेगा जैसे वह जोत जल रीछ है और वो धूप जल जगन लाग रीछ है और ये गरीबदास महाराज की वाणी के मंत्र हम बोल रहे होते हैं अखंड अब काल भी हमने प्रमाणित किया था परंतु नए भगजन आते हैं उनके लिए दोबारा फिर रिवाज करता हूं कि भाषा हमने आज तक यही ज्ञान है कि संस्कृत में श्लोक बोले जा तो यज्ञ हवन होया करे ये कति गलत गलत नहीं कह सकते यही जरूरी नहीं है कि केवल संस्कृत के श्लोकों से ही हवन होया करे भाषा का अपना काम इतना है कि अपने विचारों को दूसरे ताई प्रगट कर देगा बस उसके बाद भाषा से जाटू हो अपने मतलब अक्षेत्रीय हो और चाहे पंजाबी हो चाहे संस्कृत हो चाहे हिंदी हो भाषा का काम खत्म वेद ईश्वर कहता तो है सब मानते हैं वेदों में ब्रह्म द्वारा कृत ये ब्रह्म यानी किस ब्रह्म के परमात्मा के महिमा लिखी हुई है वेदों में और विद्वानों ने जिस ऋषियों ने लिखिया कहते हैं चार ऋषियां लिखी चलो उनको मान लेते हैं उनमें जितनी शक्ति थी उतना काम वेद मंत्र जरूर करेंगे और गरीबदास महाराज में अनंत कोट ब्रह्मंड के परमात्मा थे उनकी शक्ति है और यह वाणी उतना ही काम करेगी जिस प्रकार एक अनपढ़ प्रधानमंत्री हो अनपढ़ का तात्पर्य छोड़ा काम चलाओ सा ऐसे बहुत से हुए राजा भी अनपढ़ हुए उन्होंने जिस भी भाषा में अपने अधिकारी को वजीर को मंत्री को नौका कह दिया रहा वो बात सुन कहा हाँ जी उतना ही काम करेगी जिस प्रकार एक अनपढ़ प्रधानमंत्री हो अनपढ़ का तात्पर्य थोड़ा काम चला सा ऐसे बहुत से हुए राजा भी अनपढ़ हुए उन्होंने जिस भी भाषा में अपने अधिकारी को वजीर को मंत्री को नौका दिया रहा वो बात सुन अखा हाँ जी उनका वो काम अरूड़ा कर दिए इसने आड़त लेकर उड़ाता नहर बना दे या भाषा है पर संस्कृत ना हिंदी ना अंग्रेजी ना पंजाबी आड़त है अरूड़ताई वो फिर पूछेगा महाराज कहां से अक देख ये आंगली ला दिया रे ये कौन सा गांव से अरे कौन सा गांव के हो तुम के मांगो सो अज्ञा फलाना गांव के हाँ भाई फलाना गांव तो रूडे ताई फलाना गांव ताई या नहर बन जानी चाहिए उसने इतना कहने की जरूरत है फालतू बोलने की ना अंग्रेजी बोलने की हो सकता और ना फिर उसमें शुद्ध हिंदी की हो सकता वो आपा बना लेंगे उसकी हिंदी हिंदी सारी कुछ और वो काम हो जाएगा तो उस भाषा ने उस शब्द ने उस भाषा के माध्यम से वो काम कर दिया इसी प्रकार ये जो वाणी गरीबदास महाराज की कबीर साहब की है इनमें उस परम पूर्ण ब्रह्म की शक्ति इसके अंदर है और यह शक्ति जितनी हम यहाँ बोलेंगे या उतना काम करेगी जितना जितना इन शक्ति है वो इतना करेंगे और यह जैसे मुख्यमंत्री जो काम कहे वो भी होगा परंतु प्रधानमंत्री कहेगा वो अलग से होगा बहुत विशेष भी हो सकता जो वो नहीं कर सकते तो इस प्रकार हम इसे अनजानपणे में रहते हैं कि हमने वेदों से ही सुना है कि वेद मंत्रों से ही हवन होया करे नहीं अब हम प्रतिदिन यज्ञ हवन होता हमारे घर में हर बच्चों के जो हमारे देशी हैं शाम ने सुबह धूप लगाई जाती देसी घी की और साथ में अगरबत्ती और महाराज की वाणी के नितनी बना रखे सुबह और शाम और दोपहर के वो रोज पाठ किए जाते हैं तो प्रतिदिन हवन इन बच्चा का जवान नहीं याद हो रही छोटे छोटे बालक बैठे इनका वो हवन हमारा पर जबानी याद है और वो दौड़ बच्चा का याद है और एक बच्चे नमस्कार करना सीखें दंडौत करना सीखें आय का आदर करना सीखें जैसे हम यहाँ सेवा कर रहे हैं आए वालों की भाई रोटी खाओ भाई भोजन पाओ चाय पियो घर में भी ऐसे ही करते हैं जिनके पाठ होता है तो वो बच्चे आने वाले अतिथियों के प्रति यही भाव रखेंगे और जो लड़कियां जो पराई होंगी वो भी अपने सास ससुर के प्रति यही भाव रखेंगी और नब्बे प्रतिशत झगड़ा यही है कि हमने बच्चों को कुछ शिक्षा दे रखी है अगले का जाकर कुछ और होती है अब आगे समाज ये हमारा जो होगा गरीब दास कबीर साहब का समाज इसकी लड़की इन्हीं में जब ब्याही जाओगी कोई दिक्कत नहीं आओगी ना झगड़ा होगा ना लड़ाई होगी और दोनों आपस में एक ढंग से एक रस्से भक्ति के रस पर लग जाओगे आज लगभग पांच छह सात आठ हजार व्यक्ति यानी हमारी बंदी छोड़ की शरण में नए ढंग से आए हुए हैं और कम लगभग सौ गांव के अंदर महाराज की वाणी का प्रचार हो चुका है बोल बंदी छोड़ महाराज आज हमारे पास 28 पाठ इस महीने में है जिसमें खुला भी लिया माए 28 पाठ एक महीने में गरीबदास जी महाराज की वाणी के जो कि तीन दिन में एक पूरा ओस है आप विचार कीजिए साल भर में कितने हो जाएंगे और आगे तक बुक है सात आठ महीना के वैसे तो दिसंबर तक के बुक है पर लगातार जो से 25 20 25 20 तो जलवायु तक बुक है उसके बाद सात की सेम है दस की सेम है इस तरह हर महीने बुक है लेकिन जब तक हम वहां पहुंचेंगे इतना वैसी तरफ पर पूर्ण रूप से भर जाओगे इसका कारण क्या है कि हमने जो सुख चाहिए था वो सुख मिला और जो हम साधना आज करते हैं और उससे जो हमें उपलब्धि होती है जिसका शास्त्र प्रमाण करें वेद प्रमाण करें श्रुति प्रमाण करें वो हमने अपनी उपलब्धि होती है छोटे छोटे बच्चों को आपको दिखा दें जो कि क्या क्या उनको उपलब्धि होती है अभी आपको एक और करसोड़ा गांव के अंदर ये लड़का आया हुआ है इच्छा प्रमोद यहीं बैठा था प्रमोद था रहा यहां पर किच्छा है बार बार है वो लड़का आया हुआ है इसकी मां बहुत बीमार रहती थी बहुत ज्यादा ये रहा बैठ जा बेटा इसकी माँ बहुत बीमार रहती थी इस लड़के ने पिछले अप्रैल में आता ही हमारे साथ अबावरा मोहल्ले में पाठ था एक सेठ का तो ये एक सुनील है लड़का ये इसके साथ आया हुआ था ये बैठा और ये छुट्टियां थी इनकी जैसे होती है ना ग्रीष्म अप्रैल में हो जाती छुट्टियां तो ये बीस पच्चीस दिन हमारे साथ रहा इस लड़के ने सारी साधना सीखी वतन भाई पाठ करना सीखा अपनी आरती करनी सीखी और ज्ञान हुआ कि बीड़ी होका शराब महापाप है इसने अपने पिताजी को जाकर समझा पिताजी ये बहुत बूढ़ी चीज था बीड़ी ना पिया कर बिला प्रमोद तू भी अच्छा भाई यानी उस पिताजी ने कम महसूस की बिला तो होका भी छुटवा और तो बोला छोड़नी पड़ेगी आखिर में महाराज की रजा होती है जब एक भी सदस्य नाम ले लेता है तो उसके पिताजी ने बीड़ी भी छोड़ दी हाँ फिर उसकी माता जी ने नाम लिया नाम लिए पास उसको कोई बीमारी नहीं हुई आज प्रमाणित है अब उसके उन्होंने दो पाठ करवाए 24 जनवरी को हम कानून धाम पाठ कर रहे थे इसकी माँ का अचानक गड़बड़ हो जाती है पेट में इतनी सख्त होगी कि डॉक्टर बुलाया गांव में तीन इंजेक्शन ला दिए इंजेक्शन लांदे वो और ज्यादा गड़बड़ होगी गोली भी दे दी यानी मरण के रूप होगी उसकी कोई उम्मीद नहीं डॉक्टर ने बुलाई कोई इलाज नहीं कितने ले जाओ चाहे मत ले जाओ नुका कमल उठाकर उठा कर लटा दी रजाई गर्मिया छब्बीस चौबीस जनवरी को सर्दी थी अंदर शाम के पांच साढ़े पांच बजे की बात है मतलब चार साढ़े चार बजे की बात है या पांच बजे होंगे ऐसा ये बताओ तो उस समय वह थी मैं इतनी रो रही थी बेहोश पड़ी यहां गाड़ी भिचरी और मेरा सारा कपड़ा भीज गया इतने में गरीब दास थी महाराज घोड़े के ऊपर सफेद घोड़े में सफेद वस्त्रा में आए अर्नो न बोले बेटी चिंता ना करे तुम्हारी शरण में से इतने मैंने बोली मन ने दंडोत्करण की खातर रजाई बगाई पर इतनी आशंक नहीं थी कि मैं तले नो लू आधी घाट पर आधी तले और न्यो को हे महाराज सत साहेब हे महाराज सच न्यो कहती कहती मैं नीचे पड़ गई नीचे गिर गई तो फिर ऊपर देखू तो आपके रूप में जो के तो सामने आप खड़े हो मैंने वो भूल गई के गरीब दास जी आप सामने खड़े हो और मैंने सारे इसके पिताजी भी इसका भाई भी बहन भी वहां बैठे रियो भी छोरा भी मैं वहां ने बोली तुम यहाँ खड़े और महाराज जी खड़े लाओ आसन लाओ साइड दे दंडौत कर लंबी लोट लोट कर कोई बीस पर आसन ट्रक मत काटा रजाई वह बिछाई चादर बिछाई ये नौका था कि हमने वो ऐसे गला दबता हुआ दिखा और वो बैठ गई बैठ गया था तो उस, उसकी उसकी माँ बता थी कि मैंने को दस मिनट ये भी बताओ थे कि दस मिनट तक नो पांच आपके पांच दस मिनट तक वो पैर दबा के नु बोले महाराज दूध तपाना भूल गई दूध लाई गर्म करके मीठा करके कटोरे में गाल कर दर दिया तो नो बोले बेटी दूध तबे मैं पी का रहा सू दूध तब मैं पींदा नहीं बाकी तरह बीमारी कुछ नहीं रोगी और नो बोले प्रमोद पढ़ा कर तू पास हो जाएगा इतनी यानी बीस मिनट तक बंदी छोड़ उनके घर में रहे चौबीस जनवरी सतानवे की बात से और फिर जब चले गए जान लागे नो तो मैंने लोट लोट के या ये बताओ थे मेरी मानो उन ज्यादा कदम रखे थे नो जी बात चाटर लोटी लोटी करे सारा कौन पे नौका दंडौत करो सारे कौन पे दंडौत करी और उसी समय अक्षर मनवा लड़की कति स्वस्थ होगी और काल आ भी रही थी बोल बंदी छोड़ मारा अब झूठ आड़े तो झूठे हुए आकर क्यों वो खुद झूठा होता है जब कति भगवान आमन सामने के भगवान आए नहीं सकता रह तेरा भला हुई है जब परमात्मा पर पाबंदी ला दी कि वो न्यो नहीं कर सकता वो न्यो नहीं हो सकता फिर तो ये सारे शास्त्र झूठ हो जाते हैं वीरा परमात्मा की संज्ञा खत्म हो जाती है उसका लक्षण खत्म हो जाते हैं ऐसे ऐसे आपको सैकड़ों उदाहरण बता सकता हूं पर भाई जचेगी उसका जिसके शोधन होंगे इन पर आश्रित भी होगा तो प्रथम तो हम साधना ठीक नहीं करते और करे हैं तो हमें पाखंडी मेरा कैसे बकावणी बतेरे मिल जा सके अब सतगुरु महाराज का एक अंग सुनाते हैं आपको गरीबदास जी की वाणी का अब प्रकरण यही चल रहा था कि परमात्मा की हमने साधना करनी चाहिए गुरु की परिभाषा भी आप समझ गए कि गुरु की अति आवश्यकता से और जो गुरु नहीं बनाना चाहते वो भूल में से भाई उनको परमात्मा के बारे में ज्ञान नहीं है अब बना लेते हैं तो फिर हम कैसे उलझ जाते हैं अब आपको महाराज का एक अंग सुनाते हैं अबंदी छोड़ महाराज कहते हैं माला मुक्ति न होते हैं मुक्ति होते हैं नाम एक अक्षर बाहरा उदड़ भला गाम अब भ्रम दुष्ण कांग आपको सुनाएंगे ये तो बेकांग है कंठी माला सुमरणी सदहसल सलामीते कनफूका गुरुआ मैं लह जो जन मारी फेंट कनफूका जो कान में फूक मारनी है पावा है ना अब बस किससे मंत्र बता दिया जो करना करिए वो चैसला तो नो कह देगा कि बकरा गुग्गा माड़ी का चढ़ा दिए और बताइए मत ना वो कन फूके होते हैं गृहकंठी माला सुमरणी पैरे ते क्या हो ये ऊपर डूंडा साध का भाई अंतर राख्या खोए ऊपर तो दाढ़ी बढ़ा ली शर जटा ली लटा ढाडी ली लाल कपड़े कंठी माड़ा तिलक बाह में भी माड़ा और हाथ में लोटा करमंडल और सारा सौदा साधु बना बन गया गरीब कंठी माला सुमरणी ही पैरे ते क्या हो ये ऊपर डूडा साध का तन अंतर राख्या खोए भीतरले में व्यवस्था नहीं बनी नाम के बिना जाप के बिना और ऊपर तो भाई ये पाखंड से तो कोई लाभ नहीं होगा अब मैं ये कपड़े लाल भी पहन लू और माला भी गाल लू तिलक भी ला लो ढाडी बढ़ा सकूं क्यों सबका बढ़ाया तो फिर मैं साधु पूर्ण रूप से कवाऊंगा आम आदमी मान लेगा हाँ साधु जा से और हम ऐसे ढंग से रहते हैं कि कपी नो भी निगम साधु सा का साधु अगला टनाटन परख कहने देखेगा साधु सहेगा साधु सोबा प्रसन्न करेगा सोबा पूछेगा फिर भी नो रहेगी कभी साधु ना और फिर पूछेगा और जब उसके सौ काम सर जाएंगे जब आप पैसा दू मान लेगा कहा कि मैं दस है जरूर तो ये रिहर्सल अच्छी लगी हमने नहीं तो नब्बे प्रतिशत आदमी तो भेष न देखा पा बैठेंगे जो आप कहोगे महाराज की क्यों हमारे अंदर भावना अच्छी है और होनी भी चाहिए साधु के प्रति ग्रीब कंठी माला सुमरणी जीवत मारे काठे मुए कहो कित तो जावेंगे फिर हक जम की पाटे जो कहे जिंदा जी तक पाखंड करेंगे मरे पाछा फिर काल जोड़ देगा को लोग है अगले तुम्हारा लगा रहा गृह कंठी माला सुमरणी जग में पड़े फिरा के सतगुरु शब्द न मान ही लकड़ी सू क्या साथ सतगुरु की बात नहीं मानते पर मनमुखी साधना सब करते हैं एक मेरे को मिला इतनी लंबी माला उसकी जो नो कर रहा था जब धरती में टकरी थी मतलब छह उंगल ऊंची होगी और काट के मणिया की मोटी मोटी और देखे नहीं उसका नहीं ना नाम जपे अरे उसने नो घुमावे नो और वकील तो बात करने लाग रहा मैं जब महाराज की शरण में आया आया था मैंने सोचा बड़ा अच्छा साधु दिखे है भाई ये तो मन डेरा और बतलावा दूसरे थे वो जब उससे बात होली मैंने नमस्कार करी अखा बच्चा सुना मैं बोला ये माड़ा क्या खातर फेरो स्वाप क्या खातिर फेरा करो माड़ा माड़ा भगवान पान खातिर आत्मा के नाम जपो हो बोला नाम के उस भगवान के नाम नहीं होता उसका होता नाम नहीं है तो मैं मारा क्या तो फिर बोला चल अपना काम करे एक सौ क्या फिर नहीं मना दिए कबीर साहब कहे माला फेरे मुक्ति हो तो मैं फेर दो सो तीर एक का बतेरा तो तड़के तो साहब जिसमें हाँ, करोड़ों माला बन जाती है अरे तेरा भला यो तो उनके लिए सतगुरु महाराज ने कहे इन जाना न दो राख्या सारा साधन कबीर कंठी माला सुमरणी जग में पड़े खराहत सतगुरु शब्द न माने ही फिर लकड़ी से क्या साख गृह कंठी माला सुमरणी फिर टीका टुरमन टाले छापे तो छाती दिए या जब घाली घाल उन तो महाराज के या घाल से या तेरा कया लेगा डूबेंगे ये पाखंडी <laughs> या घाल से असली घाल या से चल दी फिर दी कि ना तुम तो दोनों वस्तु ना साधन अर्पण दाना तुम उसके जा चपटेंगे किसी ने कहेंगे नो करिए सांझ ने एक शराब की बोतल पहुंचा दिए ले तेरा भोग ला दूंगा <laughs> इसे इसे मैंने कई फेटे एक दिन मैं रेल में बैठा जान लाग रहा सतकर मानी झूठ नहीं बोलता जब मैं महाराज की शरण में आ गया था हमारा कौशली की तरफ में काम चला करता तो शाम का समय हो गया उसमें बैठा मैं अपना आप वजन कर रहे हमारा साधन ऐसा किसी ने पता नहीं वजन कर रहा क्यों बैठा उसमें दो लाल कपड़े आड़े जवान से छोरे और ढाडी बढ़ा रहे और आ बैठे एक कान पड़वा रहा एक नहीं पड़वा रहा उन्होंने बोला जो कान पड़वा रहा था उन्होंने बोला कौन सा पंथ था तू उसने भी बताया हमारा याद नहीं रहा अब उस पंथ था अच्छा अच्छा बोला तुमने बेरा नाम कन पाड़े हाँ बोला हाँ कन पाड़े बोला हम सबसे श्रेष्ठ होते हैं उन्होंने बोला हाँ जी आप मारे तो दाद सो ਮਾਰੇ ਪੰਥ ਨੇ ਬਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਦੇ ਤੁਮ सोचता हो ਅਕੂਏ ਸੂ ਨਾ ਜੀ ਨਾ ਮੈਂ ਬਲਾ ठीक सोचो नु बोला काल की एक मौज बताऊ मैं बोला बता नु बोला एक भगत जी एक बोतल ले आया अक अकमारा जी मारा भोग ला दिए मैं बोला भाई एक बोतल तो भोग बुरा ना हो हम तो एक एक बोतल कई वो पीवा हम बोला जन्म नु बोला जी मेरा काज एक का गाँव से बोला चल किसी और न पकड़ांगे हमने बोला बोतल पी थी इतना एक और आ गया आ भाई महाराज जी मारी मैं दूध ना गंदी न बोला एक बोतल और ला फटाफट एक वो ले आम चार जने थे बोला टन हो गए बोला जा तड़के दूध गंदी पाओगी किसी दूध देती हुआ मतलब उनका अपना विश्वास था न बोला भाई फिर भी मतलब सुबह चार बजे से आँख खुली नशा उतर गया एक सौ रुपये की कलम भरी और भाई जब टन खोपरी हुई फिर दो बोला बवारी उठा उन्होंने बोला जी काल मारा भी सूत बैठ गया था दूसरा बोला बोला क्या हुआ बोला मैं फलाने गांव में जा रहा था और मेरा गुरु भाई रहे છે બોલા છે અરડો હાથકટ धर रहा दो बोतल ने बोला चल भीतर कुटिया में बोला फिर गुफा में ले गया ने बोला मार घूट साइड देसी कदे को आ जा सेवा काटा ने कह भीतर दारू पीवा पी का दारू आराम छक्का बाहर आए बाहर आकर ने बोला सुल्फा और पी ले ने बोला ये दो जोड़े हाथ मारेगा जीत है आम नहीं पींदे सुल्फा बोला सुल्फा फिर हमने रोटी राटी खाए पाते तड़कला उसी पिया अब नो बताओ उनके उसके वेशभूषा ने देखा है तो वो साधु आदरणीय और पूजनीय और उनके लक्षणा ने देखा है तो बंदी छोड़ महाराज ने उनको ऐसी ऐसी बात कह रखी है जो कति कण जोगी थी गरुआ मेल जाने भावन भेद ये जमके हल, हलकारे फेरे हाथा में लिए वेद ये जमके काल के हलकारे यानी बुलावे अराथम वेद यानी ये ज्ञान की किताब ले हंड और वेद ज्ञान नहीं है ग्रीब हल्का ग्रीब कनफू का गुरु नामे लो भाई देऊ तीन तलाह के बड़ी फजर परिणाम करे है जड़ में देकर आक ग्रीब कनफू का गुरु बहुत है अनगिन कोट अनंत साधु होकर नाम लवे है सो सतवादी संत गृह में कनफू का गुरु काले है यू फांसी दिवे अड़ाए मारक है मैदान में फिर छल बल बहुत बनाए गरीब कनफू का गुरु काले है गुरु का धरा मैं मीन मीनन मेखे है जैसा संबल रूख <clears throat> कितना अच्छा प्रमाण गुरु महाराज देते हैं गरीबदास जी के हम मानना यू संत है और उसकी पूजा करा आराधना करा बाखिरता सारा काम करते हैं वस्तु हासिल कुछ नहीं होती संबल के वृक्ष पे क्या होता है कि बहुत सुंदर पेड़ हो आप देखो कभी संबल के वृक्ष को हमने देखा कलोई गांव में हम पाठ करने जा रहे थे वो थोड़ा सा आधा किलोमीटर उड़े ने कोने पर खड़ा है अब भी और उसके इसे सुथरे फूल नुचाला पाट रहा गुलाबी गुलाबी लाल लाल से रंग के बहुत सुंदर अब उसके फल अभी लगे नहीं थे फल लागे जब और सुंदर होंगे यानी बहुत सुंदर फल लगे उसके और उसमें सुआ पक्षी तोता बैठ जाता है कि मैं इसने पके पाछा खाऊंगा और जब वो मुंह चोच मारे से पहले ताश तो में रहे से उसकी भाई अपना लेता मेरा पेड़ सयो और जब उस फल को खाता है तो वह चोच उसकी उसकी रुई में भर जाती है उसमें कपास होती है उसने जान बचानी भी मुश्किल हो जाती होता क्यों अच्छा जोर तो मारा करे का अच्छा फल सही हो पक्या हुआ तो उसने होता जान बचानी मुश्किल हो जाए वो खाना चाहो था उसको फल को तो ऐसे वो संत हैं जिनकी हम साधना उपासना कर रहे हैं संत मान के आखिर में उनते यू फल मिलेगा गृह कनफो का गुरु काले है गुरु का धरा स्वरूपे या मैं मीन न मेखे है जैसा संबल रूखे ग्रीब कनफो का गुरु काल है यु आया भेष बना ये तन पर द्वादश चलके हैं और सब जग गया पिताय बारह तिलक ला रहा हो जो के सारे जगत के भाग्या मन में कताया मतलब प्रतीत होगी विश्वास हो गया सबके मान के कहा साधु से भाई गृह कनफो का गुरु काले है ग्रेब कनफो का गुरु काने में मारी फूक बटम्बे जैसे फूटी नावे में फिर डूबा सकल कुटम्बे ऐसे संत की शरण में इस प्रकार वो परिवार है जैसे फूटी नाव में कुंबा बैठ जा और वो बेचारा जाके डूब जावे ऐसे साधुओं के शरण में ऐसा उनको लाभ होता है ग्रीब ये क्षण में पाखंड है जो कोलू का फेरे काजी पंडित बैले हैं दरड गंडीरी गेर के ये क्षण प्रकार के पाखंड बताए कोई झाड़ा लानिया को किमे करनिया नो कही ये सब कोलू के सा फेर सक माए पीट दे सो सागले ने भी खत्मा कर देते आपने पुराने प्रमाण सुने होंगे जो कि <clears throat> महर्षि दानंद जिया ने और कई संतों ने प्रमाण दिया कि एक समय ऐसा विचार चला था यहां पर मेरे जैसे डोंगिया ने कि इन भोले वाले जीवों को कह दिया कि दान करो धर्म करो ए, वो दान भी करते धर्म भी करते तेरा बाप न्यू है तेरी मां न्यू है वो कति कंगाल कर देते और फिर भी नो कहे हैं कि भाई कोई बात नहीं बनी तो नो कहा करते काशी में एक क्रोत लगा हुआ है वहां अपनी जान दे दे स्वर्ग में पहुंच जाएगा नो कह वहां नाड़ और कटवा दिया करती थी तो ये गरीबदास महाराज कहते हैं कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि ऐसे संता की शरण में सजा कुटुंब डूब जाता और ये कोल्लू कैसा फेर सा यानी उसमें दृढ़ गंडीरी गेर और वह गेर के वह दृढ़ दी गंडीरी यानी उसकी तरह पीड़ के उसमें खत्म कर दिया जाता है वो जी जो अनजान अंधे गुंगे गुरु घने ये लंगड़े लो भी लाख और साहेब से परिचय नहीं फिर बना बनावे साख गरीबदास जी महाराज के बे, बेखा के लश्कर खरे बेखा के और पंथ चाल रहे बेखों के लश्कर फिर बाणी चोर कठोर और सतगुर धाम ना पहुंचेंगे ये चौरासी के ढोर वाणी कबीर साहब की गरीबदासियों की गीसा साहब की दादू साहब की नानक साहब की और जितने भी रविदास जियो की और और मतलब मंत्र अपना मंत्री नाला नहीं नाम वो नहीं नाम अपना तो कहते हैं ये लेकर डूबण के पंथ गृह जड़ पाहन पो जाकर जड़ की बाजे साक्षी सत कबीरे हैं या पो जा घर घालो अब एक भाई ने मेरे से प्रश्न किया पूरी होगी सभी संगत ध्यान से सुने एक घंटे की बात पौने घंटे की बात रह गई है ध्यान से ये समय आपका बहुत अनमोल है और बड़े भाग से उपलब्ध होगा ये जन्म नहीं चला जाता सभी का दो दिन का जीवन है इसको विशेष ध्यान से सुनोगे जब बात बनेगी अब कहते हैं गरीबदास जी महाराज के बंदी छोड़ कबीर साहब ने बंदी छोड़ कबीर साहब ने हमें ऐसा ज्ञान दे दिया कि ना तो ये उर्ली बात दी है और किसी ने बतावा तो किसी के दस्ती नहीं महाराली बात सारी ओपरी ओपरी समझे से क्यों समझे हैं कबीर साहब कहते हैं कबीर ये माया अटपटी ही सब जग आण अड़ी सब घट आण अड़ी भाई किस किस ने समझाई या कुए भांग पड़ी अब कुएं में भांग काल में गिर रखी से माया रूपी और जिसने वह भांग पी ली वाहे बोली बोले यानी शराबी चाहे पचास कट्ठे हो रहे हों अब उनमें कोई लागे समझान तो वह ही बोलेंगे न कहेंगे हम राष्ट्रपति महेश हूँ थोड़ी आर में कह रहा डट जा एक लोग देखू तने <laughs> यानी जिनके माया का नशा हो चुका है नौके उन्हें कर समझावा उन्हें तो यह चीज अच्छी लागे बेटे जदाद औलाद रिश्तेदार कार कोठी और बंगले इन न्यारी सूझ गए नियर नो सरोज बेरा काल एक आदमी मर गया और एक्सीडेंट मर ओहो मेरा दो छोरे थे अरे एक छोरी तो इब्बे ब्याई थी और भाई नो कार थी रिकोटी थी और हम उस पर अफसोस करते अपनी चिंता नहीं तो बंदी छोड़ने का रह तेरा भला हो इवी न क्यों कृष्ण जावा फिर दूसरा फिर वो बोली अकबाई अब क्या कहते हैं जलम जुल्हा जारत लाई जलम देखे जब लाड में कहा कर जा जालिम तने चाला कर दिया लाड में कहे अपने इष्ट परमात्मा कबीर साहब को गरीबदास जी भाई जालिम जुल्हे जारत लाई ऐसा नाद बजाया है जलम जुलहे जारत लाई ऐसा नाद ऐसा ढोल बजा दिया ये बताए किस किस ने समझा और कौन कौन ने समझाए किस प्रकार भाई काजी पंडित पकड़ पछाड़ी दोनों धर्मों को लिया बंदी छोड़ में निष्पक्ष भाव से बात करी भाई काजी पंडित पकड़ पछाड़ी तिनको जवाब नहीं आया है जालम जुल्हे जारत लाई ऐसा नाद बजाया है जालम जुल्हे जारत लाई ऐसा नाद गया है जालम जुल्हे जारत लाई सट दर्शन सब खारज कीने सट दर्शनी महात्मा है जो सट कर्म सट दर्शनिया में कई संत आ जाते हैं कई भेख आ जाते गरीब सट दर्शन सब खारज कीने दोनों दिन चताया है जालम जुल्हे जोरत लोई ऐसा नाद बजाया है जालम जुल्हे जारत लाई सुरनर मुनि जन भेद न पावे सुरनर मुनि जन भेद न पावे दोनुआ का पीर कहाया है जालम जुलहे जारत लाई ऐसा नाद बजाया है जालम जुलहे जारत लाई शेष महेश गणेश वर था के शेष महेश गणेश्वर अरुथा के जिनको पार ना पाया है जालम जुलहे जारत लाई ऐसा नाद दुबाया है जालम जुलहे जारत लाई नौ अवतार हेर ऋषभ हारे नौ अवतार हेर ऋषभ हारे जुल्हा नहीं हराया है जालम जुल्हे जारत लाई ऐसा नाद बजाया है जालम जुल्हे जारत लाई भाई चर्चा आन पड़ी गर्मा पे चर्चा आन पड़ी गर्मा की चारों वेद हराया है जालम जुल्हे जारत लाई ऐसा दुब जायो है जुलम ही जारत लाई एक समय काशी के अंदर एक समागम हुआ जिसमें सब मंडलेश्वर महामंडलेश्वर विद्वान एक से एक अधिक और सबने और साथ में सिकंदर लोधी राजा वहां पर उपस्थित था और कबीर साहब भी गरीब और रविदास जी भी दोनों एक कूण सी में जा बैठे अपनी टूटी सी वो लेकर जिससे भी वेशभूषा में रहा करते थे तो उसमें समागम ये रखा गया था उन आपस में हम आप अपनी परीक्षा दे रहे थे कि मैं ज्यादा शक्ति वाला हूं वो मंडलेश्वर उन्होंने कहा था दूसरा मेरे में ज्यादा शक्ति है कैसे अजमाई जानी थी एक पत्थर की शिला के ऊपर बहुत सुसज्जित आदर के साथ रख के मैदान में रख दी पचास फुट के ऊपर और उसका शालग्राम चारों वेद सब यानी शालग्राम की मूर्ति यानी कृष्ण भगवान की ठाकुर की मूर्ति रख दी गई और बहुत सुंदर ढंग से सोने की चांदी की कई तरह की तन्यो तो बोले भाई जो उन मूर्तियां ने शालग्राम समेत अपनी सिद्धि से उरेन बुला लेगा उसकी सिद्धि सबसे प्रबल है और भी दुनिया दुनिया बहुत देखने वाली जा रही थी और कबीर साहब और रविदास जी भी एक कोण में बैठे अपना बैठे थे एक, एक तारा लिए अब सारे ने कोशिश कर ली अब क्या कहते हैं गरीबदास जी लिखा है कि जब वो बैठे हुए थे क्यों वो तो मैदान में रख रखी थी इसलो देखनिया बैठे थे बीच में खाली स्थान था कुत्ता आया बाज के और कुत्ते ने ठाक टांग उठा करके मुंह में दिया धार मारी फिर उन्होंने भाज भूज कर उसको मारा बगा भगू दिया फिर मांझा धोया और कहीं आंटी लागे रहे वह फेर दरी इतना फेर आया फिर धार मार गया दूसरे तीन बार लिख रहा गरीबदास जी ने कि तीन बार उसके मुंह मुत्या ठाकुर के में पत्थर की मूर्ति में फिर धो धा कर फिर खड़े कर दिए चारों तरफ लठाड़े अपने अपने मंत्र पड़े वो टस से मस नहीं हुई और ये क्या नाम सिकंदर लोधी कबीर साहब के बारे में जाने थे कि इस बेड़े न पार करनिया इनमें एक कैसे बस हाथ जोड़ करने बोले कि महाराज आप भी अपनी कोई कोशिश करो न्यो बोले वाह जी वाह जय हो जय हो जय हो इसे मंडलेश्वरा कागर इसे सिद्धा कागर मारी के बसा महाराज हम तो दो रोटी खा कर अपना तारा बजा गुजारा करें नो बोले महाराज जी नो ना खो हम सारी जाने आपकी क्या क्या आप में शक्तियां हैं ये मेरी अर्ज सुन लो उसी समय बंदी छोड़ महाराज ने वो तो उनमें परम शक्ति थी अनंत कोट ब्रह्मंड के परमात्मा कबीर साहब उन्होंने अपनी एक ला करी थी वो नो की नो मूर्ति समेत वह छला उठकर और महाराज का आगे गिर हुआ मूर्ति उठकर महाराज की छाती का लागी और वो सारा किलकी पाटी रही नीच के विक्रमहीन छोटी जाति वाले के अठा को रसूद कर दिया ये कैसे गया अब सिकंदर लोधी ने बोला थारा भी, भी आंख नहीं खुल रही मंडलेश्वर बने फिरे अभी तुम नहीं जान सकते इसकी शक्ति को कबीर साहब ने बोले जी क्या पढ़ाओ सो ये तर रंग चुके हैं उस रंग में इनका समझ में नहीं आया तो गरीबदास जी अनपार के अंग में बिल्कुल वर्णन दे रखा है वो सुनाएंगे आपको कल अब बताया गरीब चर्चा आन पड़ी गर्मा की चारों वेद हराया है जलम जुल जारत लाई ऐसा नाद बुलाया है जलम जुल जारत लाई भाई मगर देश को किया पियाना अभी तो आपने कबीर साहब की उत्पत्ति सुनी थी कि कबीर साहब एक फूल के अंदर अपनी शक्ति से सतलोक से आकर और एक तेज पुंज के रूप में प्रकाश रूप में आए थे और एक बच्चे के रूप में कमल के फूल पर लहर तारा तलाव में प्रकट हुए अब इस बात ने कुछ मानने थे कुछ नहीं मानने थे उस समय के लोग भी फिर दूसरा प्रमाण हजारों व्यक्तियों के सामने कबीर साहब ने किया ये तो 600 साल पहले का इतिहास है कोई लाख वर्ष का कोई नहीं अब कई लोग नो का रामायण झूठी होगी घड़े दिन हो लिए नहीं प्रचलित शास्त्रों में कुछ हम तो कहेंगे पूरी सत्ता पर अनजान आदमी कुछ भी कह सकते हैं जिनको ज्ञान नहीं जब गरीबदास जी महाराज आज से लाख वर्ष पहले की रामायण का वर्णन जो का त्यों रहे से एक अनपढ़ होते हुए और वही ये शास्त्र बताने लाग रे रामायण जो तुलसी करित बतावे तो ये परमात्मा वो पछला वर्णन जो का तुम दे सके कोई पर फर्क नहीं पड़ता महाभारत बताने लाग रे गीता जी का ज्ञान लिख रखा जो कि उन तमिल है अनपढ़ होते हुए तो वो पिछली बात परमात्मा रूप बिल्कुल आकर लिख सकते हैं बता सकते हैं सत्तर सत्य बता सकते हैं आगे की बताने लाग रे आज से तो ढाई सौ वर्ष पहले इस वाणी में लिखा था घर घर लो के बर्तन हो जाएंगे कांसी नहीं रहेगी आज सटील सब का हो रही है ना हो रही हो तो बताओ इसने भी झूठ मान लो और यह लिख राखी वाणी में कलयुग के व्याख्यान में तो क्या हुआ काशी के पंडित विद्वान नो कहा करते काशी में जो मरस है वो मुक्ति पावे और मगर देश है वहां से 40 किलो मील की दूरी पर वहां जो मरता है वो गदा बने नरक में जाओ कबीर साहब ने कहा करते भाई कर्म अच्छे करनी और भक्ति करनी कितना शरीर त्याग दो स्वर्ग यानी अपनी इष्ट प्राप्ति कर लेगा और बुरे काम करनिया भाई किता मर लियो उसने गधा बने सरेगा लख चौरासी हो गएगा पर महाराज की कौन सुने था उसको प्रमाणित करने के लिए कबीर साहब के दो शिष्य थे बहुत चौसठ लाख शिष्य थे वैसे तो उनमें से दो राजा भी थे एक हिंदू एक मुसलमान नवाब काशी का राजा वीर सिंह बघेला नवाब थे वो कबीर साहब के शिष्य थे और मुसलमान बादशाह जो है बिजली खान पठान जो मगर देश का राजा था वो कबीर साहब का शिष्य था कबीर साहब कहने लगे कि मैं यहां से जाके मगर मैं अपना प्राण त्यागूंगा शरीर छोड़ूंगा और न्यो देख लियो मैं स्वर्ग में जाऊंगा कि नरक में जाऊंगा क्योंकि लक्षण पता ली जाएगा आपने वहां जाते हैं और लाखों आदमी गेल हो रही देखने खातर वहां महाराज तीन दिन में पहुंचे तीन दिन रात में वहां पहुंच करके वीर सिंह बघेला अपनी फौज लेकर आ जाए और इधर से बिजली वीर सिंह बघेला अपनी फौज लेकर गेल जाला से अपने महाराज के शरीर ने हम लावांगे हमारा पीर से ना गुरु है उधर से बिजली खान पठान अपनी सेना को लेकर के मगर में जो आ जाता है कि हम सौ को नहीं देंगे ये हमारा गुरु पीर है पीर का तो गुरु भाषा का फर्क अब कबीर साहब ने बोले भाई सेना क्या खातर ले आए तुम किस लिए लाए हो उन्होंने बोले जी ऐसे ऐसे हम सौ को लेंगे वो कहते हम लेंगे उन्होंने बोला इसमें सौ नहीं पाओगा जो चीज इसमें पावे आधी आदि ले लियो और झगड़ा करा तो खबरदार उसको तीन तलाक तीन तलाक का मतलब कति रिजेक्टेड इस वजह शक्ति थारी खत्म हो जाएगी तुम जानो छो मेरे में के शक्ति है फिर कहने लगे भाई बिजली खा बोला हाँ जी मैं स्नान करूंगा महाराज बर्तन भर के ला रखे मटके पूरे टोकने हैं नहीं बहते पानी में स्नान करूंगा महाराज जी एक दरिया चला करती थी और वो सूख चुकी है किसी ईष्ट का यहाँ पर श्राप है किसी संत का हमारे हिंदू कहते हैं कि एक शंकर भगवान ने वो मगर स्थापित कर रखा है वो नदी सूख गई थी पानी से नो बोला वो नदी कहा मुझे दिखाओ जाकर खड़े हो गए एक बार ऐसे हाथ किया था कहते हैं बहुत दूर पर पानी का बहुत जोर की आवाज है जैसे बम फटता है सबकी दृष्टि उधर जा है तो पानी से भरी हुई नदी खकाट ठान दिया हुआ और वह आध घंटे के अंदर अंदर वह भरकर नदी बहुत सोच जल से चाल पड़ी सबने स्नान किया बोलबंदी छोड़ महाराज की जय वापस आगे एक कुटिया सी में उसके वहां अपनी नीचे चादर बिछवाई ऊपर फूल बिछवाए बिछाए आदर से बिछाए संतों ने उनके भक्तों ने और ऊपर लौट गिर चादर ओढ़ ली और ने बोला भाई खबरदार झगड़ा किया था जो चीज पावे आधी हिंदू ले लियो आधी मुसलमान ले लिया और थोड़ी देर में देखें कि आकाश में एक प्रकाश जा रहा है आकाशवाणी होती है अभी देखो मैं तो ये चला किसी का विश्वास हो तो इधर ध्यान से देख लो और उसमें कुछ नहीं है और झगड़ा मत करियो थोड़ी देर में खोला गई कबाड़ उसमें कुछ नहीं पाया केवल फूलों का ढेर और चादर नीचे ऊपर आधे बिजली खाने लिए आधे मग वीर सिंह बघेला लेकर काशी में आ गया और वहां पर कबर बिजली खां पठान ने बना रखी है आज भी वहां पर बहुत बड़ा आश्रम बना हुआ मगर देश में और काशी में भी कबीर चौरा नाम से बहुत बड़ा आश्रम है रोहतक के समान बताऊं वहां मार्केट मुर्केट कबीर नाम से बनी हुई है तो इतनी शक्तिबंदी छोड़ में थी इनको ना मानने तो उसकी मर्जी मानने उसका भला बोल सतगुरुदेव की मगर देश को किया पियाना दोनों दीन डुराया है जालिम जुल्हा जारत लाई ऐसा ना दुबलाया है जालिम जुल्हा जारत लाई घोर कफन हम काठी दीजे वो सदर फूल बिछाया है जालिम जुल्हा जारत लाई ऐसा ना दुबलाया है जालिम जुल्हा जारत लाई भाई गैबी मंजिल मार्फत ओडी चादर बीच नहीं पाया है काशी वासी है अविनाशी जो नाद बैंद नहीं आया है ना तो माँ का पैदा हुआ और ना किसी भी व्यवस्था से वो उत्पन्न नहीं हुए अपनी शक्ति से आए बंदी छोड़ नाद बिंद दो होते हैं कहता इनसे कोयसे से भी कबीर साहब उत्पन्न नहीं हुए अपनी शक्ति से आए हैं ना गड्ढा ना जारा जुल्हा इन दो जड़ावा से मुसलमान गाडे हैं ना गाडा ना जारा जुल्हा शब्द अतीत समाया है चार दाग से रहत सतगुरु सो हम मन वाया है चार दाग कौन से हैं एक तो गाड़ना एक जलाना एक हवा में डाल देना और एक नहर में बहा देना ये चार दाग चार धर्मों में चलते हैं नौका इन चारों हमारा सतगुरु नहीं आया वो तो अपने सतलोक में नौका नौ गया चार दाग से रहता सतगुर सो हमरे मन भाया है मुक्ति लोक के मेले परगणे अटल पटा लिखवाया है फिरता गिर कर ना कोई दुर्का चाकर लाया है आतकत हजूरी चाकर लगे सत का दाग दगाया है सतलोक में सेज हमारी एक अवगत नगर बसाया है भाई चंपा नूर तूर बहु भांति आण पदम झलकाया है दन बंदी छोड़ कबीर गुसाई दास गरीब बदाया है देख परमात्मा गरीब दास जी खुद कहते हैं कि भगवान कबीर सतलोकता तो आए थे और फिर सतलोक में चले गए वो हमारा देश है भाई इसने झूठ मत समझो रह थारी अपनी कमजोरी रह जाएगी सबद अतीत सकल सरबंगी रमता राम जुगा जुग है तो जाने या हंस की मूर्त ये कौआ हंस बुगा बुग है शबद महो दिद अनहद गज शबद महो दिद अनहद गज हीरे लाल नगा नग है अमृत पीजे वेद न दीजे जत जो नार जुगा जुग है महल वेद मैरमी को दीजे कई असली भेद जो चाव है महल का भेद यानी अपने सतलोक का शरीर का भेद मैरमी को दीजे यानी को जी ला कर पूछे जैसे कबीर साहब धर्मदास जी तो बोले धर्मदास तो लाख दुहाई यू सार शब्द की तो बाहर नहीं जाई मैल भेद मरमी को दीजे यो जग जाने ठगा ठग है जिंदे का कोई भेद न पावे वो काशी छोड़ गया मग है मग माने मगहर को लिया यहाँ पर सोल्ट ले लिया काशी छोड़ गया मग है यानी मगहर मग गया भाई चादर फूल बिछाई सतगुरु चार दाग ना ही दग है अरदास गरीब जंदे का चेला तीन लोक तो सतगुरु अग है इस तीन लोक तो सतगुरु ऊपर है अग है आगे है तो इस प्रकार बंदी छोड़ महाराज ने हमें ये रास्ता बताया